मुसलमानों कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और उस कलाम पर भी जो हम पर उतारा गया और उस पर भी जो इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब और उनकी औलाद पर उतारा गया और उस पर भी जो मूसा और ईसा को दिया गया और उस पर भी जो दूसरे पैगंबरों को उनके परवरदिगार की तरफ से आता हुआ हम ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا کے تابع فرمان ہیں